मौत जब सर पे होती है जिंदगी की कीमत तब समझ में आती है मुझे वो खजाना चाहिए जो दौलत आपने सरकार से यहाँ छुपा कर रखी है अब वक्त आ गया है वो सरकार को वापस दी जाए ये काम तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता भवानी सोना बहुत ज्यादा है आपके सोने का कैरेक्टर हमारे कैरेक्टर को खराब नहीं कर सकता वो ट्रक दिल्ली नहीं पहुंचेगा सोना चुराना है वो भी आर्मी से न सोना मिलेगा न सोने को सोच लो करने से पहले क्या सोचना पहले करो फिर डरो अरे इस काम में खतरा कुछ ज्यादा ही लागे चार इंच ऊपर या नीचे कहीं भी चला दी तो तुम्हारे घरानी में भी कोई मर्द नहीं बचेगा आपने कभी सांप पकड़ा है बड़े धीरे से दबे पाओ उसकी गर्दन को पकड़ लेते हैं तू कहां की महारानी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो इसकी क्या जो सलामत छोड़ दे सोना चाहिए था ना थानेदार हमारी माँ कहती थी कि मैं सर से लेके पांव तक सोना ही सोना ये जो समय है ना इस सब की लेता है समय समय पर सही समय पर सही तरह से लेता है